प्रेम आत्मा का भोजन है प्रेम आत्मा में छिपी परमात्मा की ऊर्जा है प्रेम आत्मा में निहित परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है उसके बिना जो जीता है भूखा ही जीता है उसके बिना जो जीता है वो क्षुधातुर ही जीता है उसके बिना जो जीता है उसका शरीर भला जीता हो उसका मन भला जीता हो उसकी आत्मा मरी मरी ही रहती है उसे आत्मा का कोई अनुभव भी नहीं होता आत्मा उसके लिए केवल एक शब्द है सुना गया पढ़ा गया लेकिन शब्द बिल्कुल अर्थहीन है क्योंकि बिना प्रेम के कभी किसी ने जाना ही नहीं कि वो कौन है बिना प्रेम के तो आदमी अपने से बाहर बाहर ही भटकता है अपने घर को उपलब्ध नहीं हो पाता भीतर आने का एक ही द्वार है वो प्रेम है जैसे शरीर को श्वास की जरूरत है प्रतिपल श्वास न मिले तो शरीर का जीवन से संबंध टूट जाता है श्वास सेतु है उससे हम हमारा शरीर अस्तित्व से जुड़ा है श्वास भी दिखाई तो पड़ती नहीं सिर्फ उसके परिणाम दिखाई पड़ते हैं कि आदमी जीवित है श्वास चली जाती है तब भी परिणाम ही दिखाई पड़ते हैं श्वास का जाना तो दिखाई नहीं पड़ता ये दिखाई पड़ता है कि आदमी मुर्दा है प्रेम और भी गहरी श्वास है और भी अदृश्य वह आत्मा और परमात्मा के बीच जोड़ है जैसे शरीर और अस्तित्व के बीच श्वास ने जोड़ा है तुम्हें वैसे ही प्रेम की तरंगें जब बहती हैं तभी तुम परमात्मा से जुड़ते हो उस जुड़ने में ही पहली बार तुम्हें अपने होने के यथार्थ का पता चलता है इसलिए प्रेम से महत्वपूर्ण कोई दूसरा शब्द नहीं प्रेम से गहरी दूसरी कोई अनुभूति नहीं प्रेम है क्या और जो इतना महत्वपूर्ण है उसे हम कैसे समझें प्रेम की किमिया को थोड़ा समझ लेना जरूरी है तुम अपने चेहरे को भी पहचानते हो तो इसलिए कि दर्पण में तुमने चेहरे को देखा है अन्यथा बताओ मुझे कैसे अपना चेहरा पहचानते अगर दर्पण में कभी चेहरा ना देखा होता और कभी अनायास तुम्हारी तुमसे ही मुलाकात हो जाती तो तुम पहचान ना पाते कैसे पहचानते स्वयं को भी देखने के लिए एक दर्पण की जरूरत है प्रेम दूसरे की आंखों में अपने को देखना है दूसरा कोई उपाय नहीं जब किसी की आंखें तुम्हारे लिए आतुरता से भरती है कोई आंख तुम्हें ऐसे देखती है कि तुम पर सब कुछ निछावर कर दे किसी आंख में तुम ऐसी झलक देखते हो कि तुम्हारे बिना उस आंख के भीतर छिपा हुआ जीवन एक वीरान हो जाएगा तुम ही हरियाली हो तुम ही हो वर्षा के मेघ तुम्हारे बिना सब फूल सूख जाएंगे तुम्हारे बिना बस रेगिस्तान रह जाएगा जब किसी आंख में तुम अपने जीवन की ऐसी गरिमा को देखते हो तब पहली बार तुम्हें पता चलता है कि तुम सार्थक हो तुम कोई आकस्मिक संयोग नहीं हो इस पृथ्वी पर तुम कोई दुर्घटना नहीं हो तुम्हें पहली बार अर्थ का बोध होता है तुम्हें पहली बार लगता है कि तुम इस विराट लीला में सार्थक हो सब प्रयोजन हो इस विराट खेल में तुम्हारा भाग है ये मंच तुम्हारे बिना अधूरी होगी यहां तुम न होगे तो कुछ कमी होगी कम से कम एक हृदय तो तुम्हारे बिना रेगिस्तान रह जाएगा कम से कम एक हृदय में तो तुम्हारे बिना सब काव्य खो जाएगा फिर कोई वीणा ना बजेगी ऐसा एक व्यक्ति की आंखों में उसके हृदय में झांक कर तुम्हें पहली बार तुम्हारे मूल्य का पता चलता है अन्यथा तुम्हें कभी मूल्य का पता ना चलेगा तुम कितना ही धन इकट्ठा कर लो तुम व्यर्थ ही लगोगे क्या सार है तुम कितने ही बड़े पदों पर पहुंच जाओ भीतर तुम जानते ही रहोगे खोखले हो और पदों पर तुम जबरदस्ती पहुंचते हो इसलिए अगर तुम लोगों की आंखों में पदों पर से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे बिना वो कहीं ज्यादा आनंदित होंगे तुम्हारे होने से ही उन्हें कष्ट है तुम्हारे न होने से बड़ी शांति होगी तुम्हारे पास धन हो और तुम लोगों की आंखों में देखो तो तुम्हें लगेगा कि तुम शत्रु हो तुमने जैसे उनका कुछ छीन लिया है जो तुम्हारे हटते ही उन्हें वापस मिल जाएगा प्रेम के अतिरिक्त तुम न केवल अपने को अकारण पाओगे <clears throat> न केवल व्यर्थ पाओगे बल्कि तुम हजारों आंखों में अनुभव करोगे कि तुम एक दुर्घटना हो तुम्हारा होना एक अपशकुन है कोई तुम्हारे कारण सौभाग्य से नहीं भरा है तुम्हारे कारण सब तरफ दुर्भाग्य के चिन्ह इन दुर्भाग्य के चिन्हों में इन दुर्भाग्य की चीखती पुकारती आवाजों के बीच तुम नरक से घिर जाओगे और अगर तुम्हें अपना जीवन नार की मालूम पड़ता है तो समझ लेना कि यही कारण है प्रेम में कोई उतरा कि स्वर्ग में उतरा प्रेम के अतिरिक्त और सब स्वर्ग कल्पनाएं प्रतीक है एक ही स्वर्ग है वास्तविक और वो ये है कि तुम किसी के लिए है इतने सार्थक हो उठो कि दूसरा अपना जीवन खोने को राजी हो जाए तुम्हारे लिए लेकिन इतने सार्थक तो तुम तभी हो सकोगे जब तुम दूसरे के लिए अपना जीवन खोने को राजी हो जाओ प्रेम का अर्थ है जीवन से किसी बड़ी चीज को जान लेना जिसके लिए जीवन भी गंवाया जा सकता है जब तक जीवन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज है तब तक तुम गरीब ही रहोगे जीवन तो केवल अवसर है जीवन से महत्तर को पान लेने का जीवन तो केवल एक घड़ी है अतिक्रमण के लिए एक सीढ़ी है जिससे तुम ऊपर उठ जाओ जीवन मंदिर नहीं है केवल मंदिर का द्वार है द्वार से ही कोई कभी कैसे तृप्त हो सकेगा पर कैसे तुम जानोगे पहली झलक पहली किरण कैसे उतरेगी तुम्हारे जीवन में जिससे तुम अनुभव कर पाओ कि तुम्हारे होने से कहीं कोई सौभाग्य फलित हुआ है ये थोड़ा सा बारीक है नाजुक है और एक एक कदम संभाल के रखना जब तुम किसी के प्रेम में उतर जाते हो वो कोई भी हो मित्र हो माँ हो पति हो पत्नी हो प्रेसी हो प्रेमी हो बच्चा हो बेटा हो तुम्हारी गाय हो तुम्हारा बगीचे में खड़ा हुआ वृक्ष हो तुम्हारे द्वार के पास पड़ी एक चट्टान हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी हो जहां भी प्रेम की रोशनी पड़ती है उस प्रेम की रोशनी में दूसरी तरफ से प्रत्युत्तर आने शुरू हो जाते प्रेम की घड़ी में तुम अकेले नहीं रह जाते कोई संगी है कोई साथी है और कोई तुम्हें इतना मूल्यवान समझता है कि तुम अपना कि तुम्हें अपना जीवन दे दे तुम किसी को इतना मूल्यवान समझते हो कि अपना जीवन दे दो जरूर तुमने कुछ पा लिया जो जीवन से बड़ा है जिसके सामने जीवन गमाने योग्य हो जाता है प्रेम का स्वर तुम्हारे जीवन में उतर आया ऐसा दूसरे की आंखों से घूमकर दूसरे के दर्पण से घूमकर ही तुम्हें अपनी पहली खबर मिलती है कि मैं कौन अन्यथा तुम राह के किनारे पड़े कंकड़ पत्थर हो प्रेम के माध्यम से गुजरकर ही पहली दफे तुम्हें अपने हीरे होने का पता चलता है और जब ऐसी प्रतीति होने लगती है कि तुम मूल्यवान हो तो ये बड़े राज की बात है कि जितना तुम्हें एहसास होता है तुम मूल्यवान हो उतने ही मूल्यवान तुम होने भी लगते हो क्योंकि अंततः तो तुम परमात्मा हो अंततः तो तुम इस सारे जीवन का निचोड़ हो अंततः तो तुम्हारी चेतना नवनीत है सारे अस्तित्व का लेकिन प्रेम से ही तुम्हें पहली खबर मिलेगी कि तुम यहां यूं ही नहीं फेंक दिए गए हो संयोग वसात तुम नहीं हो कोई नियति तुमसे पूरी हो रही है अस्तित्व की तुमसे कुछ मांग है अस्तित्व ने तुमसे कुछ चाहा है अस्तित्व ने तुम्हें कोई चुनौती दी है अस्तित्व ने तुम्हें यहां बनाया है ताकि तुम कुछ पूरा कर सको दुकान और बाजार काफी नहीं है उन्हें कोई दूसरा भी कर लेगा धन इकट्ठा करना जरूरी भला हो पर्याप्त नहीं है क्योंकि जब तुम मरोगे वो सब पड़ा रह जाएगा कुछ ऐसा भी कमा लेना जरूरी है जो मौत ना मिटा सके और मैं तुमसे कहता हूं प्रेम एकमात्र संपदा है जिसे मृत्यु नहीं मिटा सकती क्यों क्योंकि प्रेम की संपदा के लिए तुम जीवन का दान देने को तैयार हो जिस संपदा के लिए तुम जीवन का दान देने को तैयार हो वो जीवन से बड़ी है जो जीवन से बड़ी है वो मृत्यु से भी बड़ी क्योंकि मृत्यु तो जीवन का ही हिस्सा है प्रेम के क्षण में तुम्हें जीवन और मृत्यु के पार होने का पहला अनुभव होता है अगर इससे तुम वंचित रह गए अगर तुम जान ही ना पाए कि प्रेम क्या है तो तुम अकारण ही आए अकरण ही गए तुमने जीवन से कुछ सीखा ना तुमने फूल तो बहुत देखे लेकिन सुवास तुम न पा सके तुमने घटनाएं तो बहुत देखी बहुत ऊहापोह से गुजरे बड़ी आपाधापी में रहे बड़ी यात्रा की लेकिन कहीं पहुंच ना सके अंत की यात्रा में किसी मंदिर में निवास न हो पाया तुम राह पर ही मरे तुम राह के भिखारी ही रहे कोई घर न मिला कोई जगह न मिली जहां तुम शांत हो जाते जहां तुम आनंदित हो जाते प्रेम एक विराम है संसार के लिए प्रेम के क्षण में संसार खो जाता है प्रेम के क्षण में न बाजार है न गणित है न तर्क है प्रेम के क्षण में जैसे इस बड़े मरुस्थल में एक मरुद्धान बन जाता एक छोटा सा हरा भरा सरोवर चारों तरफ रेगिस्तान है उसके मध्य में तुम एक सरोवर में लीन हो जाते हो उस सरोवर से तुम्हें और बड़े सरोवरों की खबर मिलती उस हरित उद्यान से तुम्हें और बड़ी हरियालियों के इशारे मिलते हैं उस थोड़े से विश्राम से तुम्हें परम विश्राम की याद आती प्रेम प्रशिक्षण है प्रार्थना के लिए और जिसके पास प्रेम है उसका भय खो जाता है उसके पास डरने योग्य कुछ रहा ही नहीं भयभीत तो तुम इसीलिए हो कि जीवन जा रहा है और संपदा तो तुमने कुछ कमाई नहीं भयभीत तो तुम इसीलिए हो कि सांझ आने लगी सूरज के ढलने का वक्त हुआ पक्षी अपने घरों को लौटने लगे और तुम्हें अपने घर का पता भी नहीं भयभीत होकर तुम घबरा जाते हो रात उतरने के करीब मौत आने लगी और अभी तुम राह पर ही थे अभी तुम कहीं भी पहुंचे न थे इसलिए कपता ही रहता है व्यक्ति जिसके जीवन में प्रेम की छाया नहीं है वो ऐसे ही कपता है जैसे तूफान में वृक्ष के पत्ते कपते हैं या भयंकर उत्तुंग लहरें उठती हैं सागर की छोटी सी नाव कपती है ऐसे ही तुम कपते हो जीवन में बड़े तूफान हैं बड़ी आंधियां हैं और तुम्हारे पास प्रेम का लंगर भी नहीं नाव बड़ी छोटी है जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण है लहरें भयंकर है और तुम्हारे पास जीवन से पार की कोई कुंजी नहीं एक भी ऐसा अनुभव नहीं जहां तुम्हारे अंधकार में कोई किरण उतरी हो जो तुम्हारे अंधकार का हिस्सा न हो जहां तुम्हारे हृदय में कोई वाद्य बजा हो जो तुमने ना बजाया हो जो तुम्हारे हाथों की कृति ना हो जो अनंत ने बजाया हो प्रेम की एक खूबी है तुम प्रेम कर नहीं सकते हो जाए हो जाए घट जाए घट जाए तुम इतना ही कर सकते हो कि बाधा ना डालो जब प्रेम घटता हो तो तुम भाग भाग मत जाओ जब प्रेम घटता हो तो तुम पीठ ना कर लो जब प्रेम घटता हो तो तुम आंख बंद ना करो तुम इतना ही कर सकते हो कि तुम बाधा ना डालो लेकिन प्रेम को करने के लिए तुम और क्या कर सकते हो कुछ भी नहीं इसलिए प्रेम तुम्हारे हाथों का संगीत नहीं तुमसे विराट अपनी उंगुलियां तुम्हारे ऊपर रखता है हां तुम चाहो तो बजने से इंकार कर सकते हो तुम चाहो तो अकड़ में रह सकते हो तुम इतने अकड़ सकते हो कि अनंत की उंगुलियां तुम्हारे भीतर कोई स्वर पैदा न कर पाए इसलिए तो हम कहते हैं कि प्रेम पागलपन है अंधापन है क्योंकि पता नहीं कहां से आता है कहां ले जाता है अनजान की पुकार है अचानक तुम्हें लगता है एक क्षण में कोई तर्कयुक्त गणित नहीं बिठाना पड़ता कि इस व्यक्ति को मैं प्रेम करूं कुछ सोचना नहीं पड़ता कि इस व्यक्ति में क्या क्या प्रेम योग्य है कुछ हिसाब नहीं लगाना पड़ता अचानक एक क्षण में समय का व्यवधान भी नहीं पड़ता तुम पाते हो कि तुम प्रेम में हो किसी व्यक्ति ने तुम्हारे हृदय को बजा दिया किसी ने सोए तार छेड़ दिए वो प्रेमी हो सकता है वो गुरु हो सकता है वो मित्र हो सकता है लेकिन प्रेम का स्वर एक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या नाता रिश्ता बनाते हो लेकिन अचानक घटना घटती ये मूल्यवान है समझ लेना क्योंकि जिसे तुम घटाते हो वो तुमसे बड़ा ना होगा जिसे तुम कर सकते हो वो तुमसे छोटा होगा जो तुमसे किया जाएगा वो तुम्हारे जीवन के पार ले जाने वाला नहीं हो सकता इसलिए तो बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान से भी गहन है प्रेम क्योंकि ध्यान तो तुम शुरू करते हो कुछ तुम करते हो ऐसे भी ध्यान हैं जिन्हें तुम शुरू नहीं करते अगर तुम्हारी समझ हो तो तुम उन्हें पहचान लोगे लेकिन वैसे ध्यान तुम प्रेम के बिना ना पहचान पाओगे एक बार तुमने अपने को बह जाने दिया अनंत के हाथों में एक बार तुमने सिर्फ रोका नहीं जहां ले जाना चाहती थी हवाएं तुम्हें ले गई जिस तरफ उड़ाना चाहती थी तुम उड़ गए तुमने ये ना कहा कि मुझे तो पूरब जाना है और ये तो पश्चिम की यात्रा हो रही तुमने ये ना कहा कि मेरी तो ये अपेक्षाएं ये शर्तें तुमने न कोई शर्त रखी न कोई बाधा खड़ी की तुम चुपचाप समर्पित बह गए अगर एक बार तुमने प्रेम में बहना जान लिया तो तुम्हें ध्यान की कुंजी भी हाथ लग जाएगी क्योंकि वो भी करने की बात नहीं वो भी बह जाने की बात है कर करके तुम क्या करोगे तुम ही तो करोगे तुम्हारे अज्ञान से ही तो तुम्हारा कृत्य उठेगा तुम्हारे रोग से ही तो उठेगा तुम्हारा ध्यान तुम्हारा ध्यान भी रुग्ण होगा तुम्हारा ध्यान भी अंधकारपूर्ण होगा तुमसे ऊपर से कुछ आए तो ही प्रकाश हो सकता है और तुमसे ऊपर से कुछ आए इसकी तैयारी कैसे होगी ध्यान दूर है अगर प्रेम पास नहीं अगर प्रेम पास है तो ध्यान भी बहुत पास है इसलिए लाओस से जीसस कृष्ण प्रेम पर बड़ी प्रगाढ़ता से जोर देते हैं वो जोर महत्वपूर्ण है क्या घटता है प्रेम के क्षण में दो व्यक्ति इतने करीब आ जाते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं लगता कि हम दो हैं अद्वैत घटता है प्रेम के जन्म में ऐसा भी नहीं लगता कि हम एक हो गए और ऐसा भी नहीं लगता कि हम दो हैं कबीर जो कहते हैं कि एक कहूं तो है नहीं कहना ठीक नहीं गलत होगा क्योंकि एक है नहीं दो कहूं तो गारी और दो कह दू तो गाली हो जाती प्रेम के क्षण में तुम्हें पहली दफा पता चलता है दो भी हो एक भी हो एक कहना भी ठीक नहीं क्योंकि दो हो दो कहना भी ठीक नहीं क्योंकि प्रेम का स्वर ऐसा बज रहा है कि जैसे एक ही तरंग के दो छोर हो ये दोनों हृदयों के बाद अलग अलग नहीं बज रहे हैं एक ऑर्केस्ट्रा है एक साथ बज रहे हैं उनमें एक लयबद्धता है एक के बीच दो का होना अनुभव होता है दो के बीच एक का होना अनुभव होता है प्रेम पहेली हो जाती और परम पहेली की पहली खबर मिलती और जब तुम एक बार किसी को करीब आने देते हो इतने करीब कि खतरा हो सकता है हम साधारणतः जीवन में करीब लोगों को आने नहीं देते क्योंकि करीब का मतलब है दूसरे के हाथों में अपने को छोड़ना पश्चिम में वैज्ञानिकों ने अभी नई नई एक खोज की है उसको वो टेरिटोरियल इंपेरेटिव कहते वो कहते हैं हर पशु अपने आसपास एक सुरक्षित क्षेत्र बना लेता है जिसके भीतर किसी को प्रवेश नहीं करने देता तुम भी गौर कर सकते हो एक बंदर बैठा हो तुम धीरे धीरे उसके पास जाना शुरू करो बहुत धीरे एक सीमा तक वो बिल्कुल बेपरवाह रहेगा समझो तुम दस फीट करीब आ गए वो बेपरवाह है उसे कोई मतलब नहीं तुमसे लेकिन दस फीट के भीतर तुमने एक कदम रखा कि वो सजग हो जाएगा अब खतरा है तुम इतने करीब आ रहे हो कौन जाने दोस्त हो कि दुश्मन हो वैज्ञानिक कहते हैं हर पशु की सीमा रेखा है उसके भीतर आने पर वो सजग हो जाता है और लड़ने को तत्पर हो जाता है वैसी ही सीमा रेखा मनुष्य की भी है समझो एक स्त्री रास्ते पर खड़ी है तुम उसके पास जाते हो एक सीमा तक वो कोई फिक्र न लेगी समझो कि तुम पांच फीट दूर हो वो कोई फिक्र नहीं कर रही लेकिन तुम तीन फीट दूर आ गए अचानक वो सजग हो जाती अब वो तैयार है अब तुम उसकी सीमा रेखा के भीतर आ रहे हो जहां खतरा हो सकता है जहां डर है एक स्त्री को तुम देखते रहो वैज्ञानिक कहते हैं कि तीन सेकंड तक वो बेचैन नहीं होती तीन सेकंड के बाद तुमको वो लुच्चा समझेगी तीन सेकंड सीमा रेखा इतनी देर तक ठीक है जीवन में देखना इतना तो होगा लेकिन तीन सेकंड के बाद अब तुम सीमा के बाहर जा रहे हो अब तुम सज्जना सज्जनता की शिष्टाचार की सभ्यता की सीमा तोड़ रहे हो लुच्चा का मतलब तुम जानते हो मतलब होता घूर के देखने वाला और कोई मतलब नहीं होता लुच्चा शब्द की मतलब होता घूर के देखना लुच्चा शब्द आता है लोचन से आंख से उसी से आता है आलोचक वो भी घूर घूर के देखता है तो लुच्चा और आलोचक में कोई बहुत फर्क नहीं है शब्द की शब्द की दृष्टि से दोनों एक ही धातु से आते कब आदमी लुच्चा हो जाता है एक सीमा वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है बड़े गौर से तो वो कहते हैं कि अगर एक स्त्री तुम्हें एक बार देखे तो कोई बात नहीं अगर लौट के देखे तो खतरा है तुम एक होटल में गए और एक स्त्री बैठ के खाना खा रही उसने एक दफा तुम्हें देखा ये ठीक है एक दफा कोई भी देखता कौन आ रहा है लेकिन अगर वो दोबारा देखे तो तुम सावधान हो जाए वो तुम में उत्सुक है खतरे की सीमा आ गई इसलिए जो लोग बहुत सी स्त्रियों के साथ खेल करते रहे हों उन्हें बहुत सी बातों का पता चल जाता है वो बहुत से आंतरिक कोड पहचानने लगते वो उस स्त्री के पास कभी भी ना जाएंगे जिसने एक ही दफा देखा जिसने दोबारा देखा उस स्त्री में निमंत्रण उसने कुछ कहा नहीं है लेकिन स्त्री ने निमंत्रण दे दिया बड़ा अनजान शायद उसे भी पता ना हो अचेतन ने निमंत्रण दे दिया ये स्त्री राजी है इससे आगे संबंध बढ़ाया जा सकता है अगर तुम एक स्त्री के पास खड़े हो अगर वो तुम में उत्सुक नहीं है तो उसकी कमर पीछे की तरफ झुकी रहेगी जैसे वो तुमसे दूर होना चाहती लेकिन अगर वो तुम में उत्सुक है तो वो आगे की तरफ झुकी रहेगी जैसे वो तुम्हारे पास आना चाहिए उसे भी पता नहीं लेकिन वो निमंत्रण दे रही वो तुम्हें कह रही कि पास आने को मैं तैयार खतरा है क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति पास आता है तुम्हारे एकांत एक पर दूसरे का कब्जा होना शुरू हो जाता है तुम्हारी प्राइवेसी समाप्त हुई तुम्हारी निजता अब निजता ना रही एक दूसरा आदमी प्रविष्ट हुआ अब तुम्हारा बुरा भी वो जान लेगा भला भी जान लेगा एक फासला रखना जरूरी है तो हम भले बने रहते हैं बुरे को हम छिपाए रखते हैं निकट जो आता है उसके सामने बुरा भी प्रकट हो जाएगा तुम अपनी सहज यथार्थता में जाहिर हो जाओगे तुम डरते हो वो दिखाने योग्य रूप नहीं तुम्हारा वो बताने योग्य नहीं तो जैसे घरों में तुम्हारा बैठक खाना होता है जिसको तुम सजा के रखते हो ऐसे तुम्हारे व्यक्तित्व का बैठक खाना है जिसको तुम सजा के रखते हो वहां तक मेहमानों को तुम ले जाते हो उससे भीतर नहीं क्योंकि उसके भीतर तुम्हारे जीवन का यथार्थ है अपने जीवन के यथार्थ में जिसने बहुत कुछ छिपाया हो रुग्ण क्रोध घृणा हिंसा वैमनस्य द्वेष ईर्षा मतसर वो किसी को पास ना आने देगा वो भयभीत होगा कि अगर कोई पास आया तो ये सब जान लेगा वो जीवन के अंतग्रह में प्रवेश कर जाएगा और वहां तो तुम खुद भी जाने से डरते हो दूसरे को ले जाने की तो बात दूर तुम खुद भी वहां पीठ किए रहते हो तुम खुद भी देखने से डरते हो क्योंकि इतना कूड़ा कचरा इतनी गंदगी इतनी दुर्गंध वहां है प्रेम के लिए एक ही बाधा है कि तुम अपने से डरे हुए हो और शायद तुम दूसरे को पास ना आने दो तो हर आदमी ने कवच बना लिया है अपने चारों तरफ वो उसके भीतर जीता है उस कवच के बाहर वो हाथ निकाला है लोहे के कवच के बाहर हाथ मिला के फिर हाथ को भीतर ले लेता है उसी कवच के भीतर से थोड़े सा मुस्कुराता है उसी कवच के भीतर से देखता है लेकिन कवच के बाहर जब तक कोई ना आए तब तक प्रेम नहीं घट सकता प्रेम का अर्थ है दूसरे को अपना इतना बना लेना कि कुछ छिपाने को ना रहे दूसरे को अपना इतना मान लेना कि जैसे वो तुम ही हो अब उससे छिपाना क्या है अगर तुम अपने प्रेमी से कुछ छिपाते हो तभी प्रेम में फासला है कुछ भी हो वो छिपाना अगर तुमने अपने प्रेमी के सामने सब खोल दिया है सब बेसर्त कुछ भी छिपाया नहीं तो ही तुम्हारे जीवन में वो घटना घटेगी जिसको प्रेम कहते नहीं तो तुम अपनी सुरक्षा तैयार किए हुए हो प्रेमी से भी तुमने बहुत सी बातें छिपा रखी और बड़े मजे की बात है अक्सर ऐसा हो जाता है कि तुम अजनबियों से ऐसी बातें कह देते हो जो तुमने प्रेमियों से छिपा रखी ट्रेन में चलते हो ऐसे एरे गेरा कोई आदमी रास्ते में मिल जाता उससे तुम ऐसी बातें कह देते हो जो तुमने कभी अपनी माँ से नहीं कही अपने पिता से अपनी पत्नी से नहीं कही क्यों क्योंकि अजनबी से कोई खतरा नहीं घड़ी भर बाद तुम अपने स्टेशन उतर जाओगे वो कहीं और चला जाएगा उससे कुछ लेना देना नहीं लेकिन जिनसे 24 घंटे लेना देना उनसे तो छिपाना पड़ेगा उनसे खतरा है ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अजनबियों के साथ लोग अपने जीवन के बड़े गहरे कन्फेशन कर देते लेकिन निकट के लोगों से छिपाते हैं क्योंकि अजनबी ना तुम्हारा नाम धाम जानता है ना तुम में उत्सुक है तुम कहते हो तो इसलिए सुन लेता है कि चलो ठीक है सफर है साथ बैठे तो सुन लो अन्यथा तुम छिपाए रहते हो मुल्ला नसरुद्दीन एक यात्रा पर जा रहा था और जैसा कि पति जानते हैं उसने अपनी पत्नी से कहा कि बहुत जरूरी काम है तीन दिन में निपट जाएगा ऐसी आशा करते काम धंधे की बात है ना भी निपटे ज्यादा समय भी लग जाए तो मैं तुम्हें वहां से कार्ड डाल दूंगा कि कितनी देर और रुकना पड़ेगा पत्नी ने कहा तुम फिक्र मत करो तुम्हारे कोर्ट में से कार्ड निकाल के मैंने पढ़ लिया वो मिल गया कार्ड कि तुम पंद्रह दिन के पहले लौटने वाले नहीं और ये कोई धंधे की यात्रा नहीं पति हैं पत्नी हैं मित्र हैं पिता हैं बेटे हैं एक दूसरे से बहुत कुछ छिपा रहे हैं उसी छिपाने में प्रेम मर जाता है क्योंकि प्रेम किसी तरह की गुप्तता नहीं चाहता प्रेम चाहता है प्रगटता प्रेम चाहता है सहजता प्रेम चाहता है खुला आकाश इसलिए तुम प्रेम को रोक सकते हो ला नहीं सकते ऐसे ही जैसे कोई अपना दरवाजा बंद कर ले सूरज बाहर रहा आएगा भीतर नहीं आ सकेगा तुम कोई सूरज को भीतर थोड़ी ला सकते हो इतनी कर सकते हो कि दरवाजा खोल दो सूरज अगर है तो भीतर आ जाएगा प्रेम को कोई पैदा नहीं कर सकता है प्रेम तो परमात्मा से अवतरित होता है प्रेम तो परमात्मा की रोशनी है तुम इतना ही कर सकते हो कि या तो दरवाजे बंद करके भीतर छिप रहो या दरवाजे खुले छोड़ दो ताकि प्रेम चला है जब भी चाहे चला है लेकिन डर है भय है और दुष्ट चक्र यह है कि जितना तुम भयभीत हो उतना ही प्रेम ना आ सकेगा दरवाजे तुम बंद रखोगे और जितने तुम दरवाजे बंद रखोगे उतने ही तुम भयभीत होते जाओगे ये दुष्ट चक्र है इससे पार होना बड़ा मुश्किल मामला है क्योंकि कहां से शुरू करें जितना तुम अपने भीतर अपने को बंद रखोगे प्रेम नहीं आ सकेगा उतने ही ज्यादा तुम भयभीत होने लगोगे क्योंकि प्रेम ही एकमात्र अभय है प्रेम में ही तुम पहली दफा जानते हो कोई मृत्यु नहीं है प्रेमी मर जाते हैं प्रेम नहीं मरता तो प्रेमी तो रूप थे प्रेम ही था जो रूपायित हुआ था मैं नहीं रहूंगा तुम नहीं रहोगे लेकिन जो हम दोनों के बीच घट रहा है वो बचेगा वो घटता ही रहेगा किनारे खो जाते हैं सरिता बचती है ज्ञानी ज्ञाता खो जाता है ज्ञान बचता है प्रेमी प्रेमसी प्रेसी खो जाती है प्रेम बचता है प्रेम ही अनेक अनेक बार रूप लेता है प्रेमी के और प्रेसी के ज्ञाता के और गे के परमात्मा जीवन की ऊर्जा है वो बचती है सब रूप बनते हैं मिटते हैं तुम भयभीत रहोगे ही जब तक तुमने प्रेम को नहीं जाना क्योंकि प्रेम में ही तो पहली दफे तुम्हें पता लगेगा आ जाए मृत्यु कुछ भी मिटेगा नहीं आज आना हो आज आ जाए क्योंकि जो पाना था वो पा लिया प्रेम का एक क्षण बिना प्रेम जी हजारों जीवनों से बड़ा है प्रेम का एक क्षण अनंत है अगर तुमने एक क्षण को भी प्रेम जान लिया तो तुम मौत से कह सकते हो अब आ जाओ अब कोई अड़चन नहीं जो होना था हो गया जो पाना था पा लिया और वो समाधि जान ली जो मृत्यु के पार है अब तुम आ जाओ अब तुम्हारे आने से कुछ भी मिटेगा नहीं सिर्फ प्रेमी ही निश्चिंत मरता है क्योंकि मृत्यु उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती उसने अपनी प्रतिमा भी देख ली है प्रेम पात्र के द्वारा जो अमृत की है और उसने अपने प्रेम पात्र की भी प्रतिमा देख ली है जो अमृत की है भीतर तो तुम्हारे अमृत है मृत्यु तो बाहर बाहर है प्रेम तुम्हें मौका देगा कि तुम्हारा भीतर खिल जाए तुम्हारा भीतर फूल बन जाए और तुम देख लो प्रेम अभय करता है अब कठिनाई है जो वो ये है कि तुम शुरू कहां से करो भयभीत रहोगे प्रेम ना हो सकेगा प्रेम न होगा और भयभीत होगे और भयभीत होगे तो और तुम सुरक्षा कर लोगे प्रेम के होने की और संभावना समाप्त हो जाएगी कहा से शुरू करो साहस की जरूरत है दुस्साहस की जरूरत है भयभीत हो माना फिर भी दरवाजा खोल दो दरवाजा खोले बिना तुम अभय ना हो सकोगे इसलिए प्रतीक्षा मत करो कि जब अभय हो जाएंगे तब दरवाजा खोले तब तो तुम कभी भी ना खोल पाओगे दरवाजा खोलो कपते हाथों से खोलो कपती छाती से खोलो रो रो भयभीत हो लेकिन दरवाजा खोलो इसलिए कहता हूं दुस्साहस भय के बावजूद दरवाजा खोलना पड़ेगा तुम ये अगर मांग रखोगे कि जब अभय हो जाऊंगा तब दरवाजा खोलूंगा अभी तो बहुत भयभीत हूं दरवाजा खोलने से पता नहीं कौन भीतर आ जाए कैसी हवाएं कैसे तूफान कैसी आंधियां भीतर आ जाए अभी तो सुरक्षित हूं अपने घर में तो सुरक्षा तुम्हारी कब्र बन जाएगी फिर तुम दरवाजा कभी भी ना खोल खोल सकोगे छोटा बच्चा चलता है वो ये नहीं कहता कि मैं तभी चलूंगा जब गिरने का सब डर मिट जाए छोटे बच्चे अगर ऐसा कहें तो दुनिया में कोई फिर कभी चल ही ना पाए छोटे बच्चे बड़े दुस्साहसी होते छोटा बच्चा चलना शुरू कर देता है बिना बह के और जानता है कि हाथ पैर कप रहे डगमगा रहा है सहारे की जरूरत फिर भी छोटा बच्चा चाहता है सहारा मत दो मां सहारा देती छोटा बच्चा उसको छोड़ के चलना चाहता क्योंकि सहारा अपमान है और सहारे से कौन कब तक चलेगा कितने दूर तक चलेगा सहारा तो उधार है दूसरे के सहारे पर कितनी देर टिका जा सकता है छोटा बच्चा हाथ हिलाता है कि नहीं वो अपनी तरफ से कोशिश करता है बड़ी महत्वपूर्ण घटना है छोटे बच्चे को चलते हुए देखना उससे महत्वपूर्ण घटना जीवन में फिर दोबारा घटती ही नहीं जब तक कि तुम आत्मा की यात्रा पर ना निकलो क्योंकि फिर एक नई चाल शुरू होती अब वो शरीर की नहीं है अब वो आत्मा की है फिर तुम डगमगाते हो छोटे बच्चे को देखो उठाता है पैर डरता है संभालता है कपरा है फिर भी चलने की कोशिश करता है वो ये नहीं कहता कि जब मैं चलना ठीक से कर सकूंगा तभी चलूंगा तो फिर ये पैर ठीक से चलेंगे कैसे कब चलेंगे छोटा बच्चा चलता है गिरता है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम भी नहीं गिरोगे गिरोगे क्योंकि कोई भी एकदम से नहीं चल सकता चलना एक कला है जो धीरे धीरे आती है बच्चा गिरेगा घुटने टूट जाएंगे खून निकलेगा लेकिन इससे कुछ बाधा ना पड़ेगी इससे चुनौती मिलेगी बच्चा और चलने की कोशिश करेगा अगर बच्चा तुम जैसा बुद्धिमान हो और एक दफा घुटने टूट जाए और बिस्तर पर लेट जाए कहते कि बस हो गया अब ये काम दोबारा नहीं करना नहीं घुटने टूटते हैं तो और आकर्षण बढ़ता है रस आता है चुनौती से बच्चा फिक्र नहीं करता घुटने टूटने की फिर चलता है फिर फिर चलता है बहुत बार गिरता है कोई हिसाब है बच्चे के गिरने का लेकिन एक दिन खड़ा हो जाता है जिस दिन बच्चा खड़ा होता है अपने पैरों पर उस दिन उसकी शान देखने जैसी कितना छोटा कितना कमजोर आसा है फिर अपने पैर पर खड़ा है उसकी शान का कोई मुकाबला नहीं बस वैसी शान एक दफा और आती है जब कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है फिर छोटा सा दिया ऐसी शान से जगमगाता है जैसे महासूर्यों को फीका कर देगा वो बोधि वृक्ष के नीचे जब बुद्ध को ज्ञान हुआ उस क्षण सब सूरज फीके हो गए उस दिन एक छोटी सी बूंद ने सागर को छोटा कर दिया उस दिन ये सारा अस्तित्व इतना बड़ा होके भी बुद्धत्व से छोटा हो गया क्योंकि एक बच्चा फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया एक बच्चा फिर प्रौढ़ हुआ अस्तित्व ने बुद्ध के द्वारा फिर से प्रौढ़ता का रस पाया फिर से बोध का आनंद तो कथाएं हैं कि सारा गगन गूंज उठा अनंत अनंत वाद्यों से देवता नाच उठे देवता बुद्ध के चरणों में झुके क्योंकि जब कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो सारा अस्तित्व समारोह से भर जाता है क्योंकि सारा अस्तित्व तो मां जैसा है जैसे मां जिस दिन पहले दिन उसका बच्चा खड़ा हो जाता अपने बल चलने लगता है जैसी प्रफुल्लता से भर जाती वैसी प्रफुल्लता फूल फूल पर पत्ती पत्ती पर कण कण पे छा जाती ये तो कथाएं इसी की सूचक हैं कोई देवता है कहीं कि कोई वाद्य बजाता है कि कहीं कोई ब्रह्मा है जो आके बुद्ध के चरणों में झुक जाते हैं नहीं ये तो सूचक है ये तो काव्य प्रतीक है लेकिन उन्होंने बड़ी बात कही है आत्मा के पैरों के बल तुम जब खड़े हो जाओगे जब तुम अपने दीपक स्वयं बन जाओगे बुद्ध ने कहा अप दीपो भव अपने दिए खुद बन जाओ कहां से शुरू करो माना कि भय है मान लो कि भय है लेकिन भय को किनारे रखो और उठो मान लो कि गिरोगे निश्चित है कि गिरोगे कभी कोई नहीं चल पाया बिना गिरे बहुत बार चोट लगेगी बहुत बार भटकोगे भूल चूक होगी भूल चूक होती ही है उससे जो चलने की कोशिश करता है जो नहीं चलता उसी से भूल चूक नहीं होती तो मेरे हिसाब में तो एक ही भूल चूक है वो है ना चलना कोई भूल चूक नहीं होती तुम गोबर गणेश की तरह बैठे रह जाते हिलन चलन ही नहीं करते तो भूल चूक कैसे होगी लेकिन यही एकमात्र भूल चूक है तुम क्योंकि तुम जीवन के परम रहस्य और आनंद से वंचित रह जाओगे तुम कभी अमृत को उपलब्ध ना हो सकोगे उठो भय है स्वीकार करो भय के बावजूद खड़े होने की चेष्टा करो भय है द्वार खोलो खतरा है माना मित्र भी आ सकता है शत्रु भी आ सकता है लेकिन शत्रु के भय से मित्र को गंवा देना बहुत बड़ी भूल है आंधी तूफानों के डर से घर के भीतर बंद होकर जी लेना तो जैसे जिए ही ना कब्र में ही रहे और मर गए कब्र बड़ी सुरक्षित है जीवन में असुरक्षा है दुस्साहस चाहिए धीरे धीरे कदम संभलने लगते हैं और जब कदम संभल जाते तो सब भय मिट जाता है